पूजा चरण पखार की करति पूजा हो समाज धन्य नहीं दूजा हो समाज धन्य नहीं दूजा विविध भांति भोजन करवावा विविध भांति भोजन करवावा मुनि पर हृदय हर्षयति पावा मुनि पर हृदय हर्षयति पावा मुनि चरण में सुतचारी मिले सुखचारी राम देख मुनि देह विसारी राम देख मुनि देह विसारी भई मगन देखत मुख शोभा भई मगन देखत मुख शोभा जन चकोर पूरण शशि लोभा जन चकोर पूरण शशि लोभा तब मन हरसि बचन कह लागू तब मनारति बदन कराऊ मुनिय से कृपा न की काऊ मुनिय से कृपा न की काऊ तेरी कारण आगमन तुम्हारा तेरी कारण आगमन तुम्हारा कहु सुकरत लाभ बारा कहु सुकरत लाभ बारा असुर समूह सता महिमा मैं जाचन आयऊ नृपतोरी मैं जाचन आयऊ नृपतोरी अनुज समेत देव रघुनाथा अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद में हो बसनाथा निश्चर बद में हो बसनाथा देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम कहूँ इन कहूँ अति कल्याण धर्म सुजस प्रभु तुम कहूँ रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय संतन की जय स्मरण करें विश्वामित्र अयोध्या पहुंच गए शरीर में स्नान करके महाराज दशरथ के राज दरबार में पहुंच गए जब द्वार पर वो पहुंचे सूचना उनको मिली कि विश्वामित्र जी आए हैं तो महाराज दशरथ उनके स्वागत के लिए तैयार हुए इसमें स्वागत का यहाँ विस्तृत वर्णन है महाराज दशरथ ने प्रकार से विश्वामित्र का स्वागत किया वो सब विस्तार से कह दिया है मैंने इसी प्रकार के अन्यत्र भी समय देना चाहिए यहाँ वशिष्ठ जी हैं और ऋषि इत्यादि हैं वो आते हैं मिलते हैं इसी प्रकार से उनका स्वागत करते हैं पहले मुनि आज मनुष्य का जब राजा राजा ने महाराज दशरथ को जब मालूम हुआ तो उसका मित्र आए हैं मिले गए उदय विप्र समाजा तो उनको लेने के लिए मित्र समाज के साथ गए मैंने मित्रों को उनके दरबार में और लोग थे वशिष्ठ आदि और लोग थे उन सबके साथ मिलकर द्वार ही उनका आगमन करने के लिए गए विक्रम को लेकर के राजा महाराज दशरथ चलते हैं उनके साथ में विक्र भी रहते हैं गुरु भी रहते हैं ये सब जो है इससे एक वातावरण इस प्रकार का रहता कारण तो कई है एक वातावरण इस प्रकार का रहता है जिससे कि उनकी राजा की बुद्धि शुद्ध रहती धर्म की तरफ उनकी प्रेरणा बन रही थी धर्म में विचार धर्म में कार्य ये सब उसके कारण से उनके बने रहते हैं तो जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए कुछ व्यवस्थाएं अपनानी पड़ती हैं जिससे कि बुद्धि ठीक ढंग से कार्य करे सही मार्ग पर चले उसके लिए इंतजाम रखना पड़ता है महाराज दशरथ मित्रों को लेकर के विश्वामित्र जी के आगमन करने के लिए द्वार पर पहुंचते हैं और फिर कर दंडवत सम्मानी वहां उनका सम्मान करते हैं पहले दंडवत करते हैं वहां पर उनको प्रणाम किया और ये प्रणाम की जो है उनको मैंने पूरा दंडवत मैंने ज्यादा से ज्यादा जिस प्रकार से <clears throat> अपने बड़े से बड़ा जो कोई है उसके लिए गुरु के लिए जैसे प्रणाम करते हैं वैसे उन्होंने लेट करके उनको नष्ट करके उनको बनाया तो कर सम्मानी ये उनका सम्मान हुआ और दिव्य आसन बैठा से आनी स्रोत आए साथ और ला करके उनको अपना जो दास सिंहासन था उस सिंहासन पर उनको बैठा ये आदर का दूसरा तरीका है राजा जिसको आदर देता है बहुत आदर देता है तो उनको इस प्रकार से अपने सिंहासन पर बैठा आगे चल करके देखेंगे रामचंद्र मानस में एक प्रसंग आता है जहाँ सीता जी कहते हैं और चर्चा करती है तो कहते हैं महाराज दशरथ की महिमा ऐसी है कि इंद्र लोग पहुँचते हैं तो इंद्र ही इनको अपने आसन पर बैठने के लिए स्थान देता है तो माने इंद्र इनका इतना सम्मान करता है जो सब देवताओं का भी राजा है ऐसे <clears throat> महाराज दशरथ का स्वागत करने वाले सम्मान करने वाले तो सम्मान का एक तरीका है उनको अपने आसन पर बैठाते हैं अपने निकट बैठाते हैं भगवान भी जिसको तो बहुत आदर देते हैं उसको अपने बगल में पास बैठा लेते हैं तो ये भी आदर देने का तरीका इस प्रकार से है इसलिए उनको निज आसन बैठारे से आने और चरण पथार कीन अति पूजा और प्रति हैं चरण पथारे ला करके जल ला करके उनको चरण के और उनकी पूजा की पूजा मैंने आरती इत्यादि की तो माला इत्यादि पहनाई इस प्रकार से सब सम्मान ऐसे करके उनके दिया तो चरण पथार की ने पूजा और फिर उनसे प्रार्थना की मौसम आज धन्य नहीं जूझा कृतज्ञता व्यक्त की और कहा कि आपका आगमन हुआ हम बहुत प्रसन्न है हमारे ऊपर आपकी बहुत कृपा हुई <clears throat> ऐसे करके अपने प्रसन्नता का भाव उन्होंने व्यक्त किया तो इस प्रकार से सम्मान हो गया अब इसके बाद जो वो उनको भोजन भी कराया कहा कि भोजन का समय हो रहा है भोजन तैयार है वो आप ले तो फिर विश्राम जी अभी कुछ नहीं बोले भोजन भी करने को चल दिए कर लिया भोजन किया फिर कहते हैं विविध भाग भोजन करवाता विविध भाग का राजाओं को जैसा भोजन बनता दिया उसी प्रकार के तरह तरह की सब सामग्री थी वो सब विश्राम को साथ महाराज भवन में ले जाकर सबको खिलाया तो <clears throat> द्रव्यविधि महादिपूजन करवावा और मनमर हृदय हर्ष अति पावा और उनको इस प्रकार से खिला करके स्वागत करते हुए और विश्वामित्र भी प्रसन्न है ये देख करके महाराज दशरथ भी बहुत प्रसन्न है उनको लगा ये बहुत अच्छा हुआ आज विश्वामित्र आ गए और ये भी सोचते जाते हैं ये कभी आते ही नहीं आकर नहीं आए आज कैसे आ गए आज आ गए तो हमारा बड़ा भाग्य इस प्रकार का सोच रहे हैं तो आगे फिर उन्होंने भोजन करके फिर राज दरबार में फिर वो दोपहर का विश्राम को चुकने के बाद में दोबारा फिर राज दरबार में सब बैठे उस समय अब ये चर्चा होती है क्या करते हैं कि पुण्य चरण मेले सुचारी चार पुत्रों को बुला करके विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करने के लिए कहा तो इन चार पुत्रों ने भी उनको शास्त्रांग प्रणाम किया विश्वामित्र को और रामदेव मुनिदेव विसारी राम देख मुनि देव सारी के माने जब सब भाइयों को तो देखा विश्वानंद जी ने लेकिन जब भगवान राम को देखा तब तो वो अपने आप को भूल गए अपने देह की सुदबुद भुला भगवान को राम को ही देख करके रह गए मैंने भगवान राम का सुंदर स्वरूप इतना ज्यादा सौंदर्य निधान इतना ज्यादा आकर्षक कि बरबस मन भर चला जाए रुके ऐसा सुंदर निधान भगवान थे तो उनको विश्वान कर भी अपने आप को भूल गए उनको देखते रह गए तो इससे ये जना दिया कि चारों भाइयों में से भगवान अधिक सौंदर्य विधान है अधिक तेजस्वी प्रकाशमान है ये उनको जो है आकर्षक रूप उनका है राम देख मुन देह विसारी और भय मगन देखत मुख शोभा पहले तो ऐसा हुआ कि भगवान राम को जब देखा आते देखा प्रणाम करते देखा तो समग्र शरीर को देखा तभी उनको बहुत सुंदर लगे लेकिन जब वो प्रणाम करके उठे तब विश्वामित्र ने भगवान राम के मुख की तरफ देखा मुख की तरफ न देखा तब कहते हैं देखें कि भाई मगन देखकर मुख शोभा जब उनके मुख की सुंदरता देगी तब तो फिर क्या कहें बहुत ही अधिक सुंदर उनको मुख लगा जन चकोर पूरा पूर्ण होगा माने फिर उनकी दृष्टि उनके मुख पर ही टिक गई और फिर घर घर नहीं देखते एक दृष्टि होकर के उन्हीं को देखते रहते उदाहरण दे दिया जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा उदित होता है तो चको चंद्रमा की ओर ही देखता रहता है चंद्रमा भाव से प्रिय लगता है तो जैसे चको चंद्रमा को देखे पूर्णिमा को वैसे भी वो विश्राम भगवान राम के मुक्ति हो एक तक देखते रह गए अब देखो यहाँ भगवान के पास जब आते हैं उनके भगवान के दर्शन होते हैं तब ये सगुण रूप में भगवान की कथा के रूप में उसका वर्णन करते हैं अन्यथा हृदय में भी भगवान का प्रभाव उत्पन्न हो भगवान आनंद स्वरूप भगवान तेजोमय ये सब हृदय में भगवान आते हैं तो उनका भगवान का प्रभाव उससे व्यक्ति का हो जाता है व्यक्ति को अपने शरीर की देह की तभी तक याद रहती है और सास संभाल तभी तक रहती है जब तक उसने परमात्मा को हृदय में अनुग्रह को देखा नहीं जहाँ परमात्मा भाव आया उसके हृदय में तो फिर शरीर भाव रह नहीं सकता उसका विस्मरण हो जाता और चित्र भी परमात्मा में स्थिर होकर के लग जाता है जब तक परमात्मा को जाना नहीं तब तक तो चित्त को परमात्मा में लगाना स्मरण करना प्रारंभ में कठिन लेकिन जहाँ परमात्मा एक बार हृदय में आ गया और चित्र परमात्मा में लग गया तो फिर वहां से वो चित्र हटता ही नहीं परमात्मा में लेकर के गया ये सूचना देते हैं देखो इस प्रकार से <clears throat> परमात्मा भाव में चित्र सदा स्थित रहे उसका बहुत बड़ा आनंद है वही जीवन की पूर्णता है परमानंद की स्थिति है आप कहते हैं तब मन हर्ष कहो वचन कहे राहु अब विश्वामित्र जी तो भगवान राम की तरफ देखते रह गए लेकिन आगे की बात कैसे चले महाराज दशरथ ने देखा वशिष्ठ जी ने देखा कि विश्वामित्र जी तो जो है अपने शरीर की सुदूर भूल गए हैं भगवान राम की तरफ देखते रह गए हैं तो फिल्म घर की तरफ से ध्यान हटाने के लिए और बात को आगे बढ़ाने के लिए महाराज सब नहीं झूठ दिए गए और उनसे कहने लगे <clears throat> कि तब मन हर्ष वचन कह रहा राहु महाराज दशरथ प्रसन्न होकर किस प्रकार से बोले महाराज दशरथ जी को ये प्रसन्नता हुई कि विश्वामित्री ने भगवान राम को देखा तो दृष्टि उन्हीं पर टिक गई तो उनको ये लगा कि इनको भगवान राम बहुत प्रिय है बहुत आकर्षक लगे इनको और इनके विश्वामित्र के मन में हृदय में भगवान राम के प्रति आगार प्रेम है ये समझ करके महाराज दशरथ को प्रसन्नता है और अब महाराज दशरथ तो बोले कि मुनि ऐसी कृपा न की कि हे मुनि विश्वामित्र जी आपने ऐसी कृपा कर की ऐसी कृपा के मैंने हमारे यहाँ आना राज दरबार में आना दर्शन देना ऐसी कृपा कभी माने पहली बार से मालूम होता है कि विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के यहाँ पहली बार आए वैसे महाराज दशरथ विश्वामित्र जी यहाँ जाते रहे उनको जानते भी थे उनकी महिमा को भी जानते थे उनका जैसी तपस्या थी जैसा उनका ज्ञान था वो सब वो सुनते रहते थे उनके पास जाते भी थे लेकिन विश्वामित्र जी उनके यहाँ नहीं आए ये निष्प्रह थे विश्वामित्र जी जो है वो जैसे महाराज दशरथ के दरबार में कौन आते थे विप्र लोग आते थे और मांगने वाले आते थे ये क्यों आते थे इनको कामना रहती थी कुछ न कुछ इच्छा रहती थी कि दरबार में जाएंगे <clears throat> महाराज दशरथ के यहाँ तो वहाँ कुछ न कुछ मिलेगा हम चाहेंगे तो मांग भी लाएंगे की तो जरूरत होगी नहीं तो वो अपनी तरफ से भी दे देंगे इस प्रकार के विचार से लेने देने के विचार से और लोग तो आते रहते थे लेकिन जिनको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं वे लोग अपने जहाँ आश्रम में है वहीं पर अपने भगवान के ध्यान चिंतन तपस्या में लगे हुए हैं और बुरा <coughs> अभी कहते हैं कि ऐसी कृपा कभी नहीं कही कई कारण है आगे मैंने तुम्हारा अब कोई ना कोई बात ऐसी हो गई मालूम होती है जिसके के कारण आप अब आए हो और हो सकता है महाराज दशरथ के मन में ये भी हो कि देखो जब तक भगवान राम का अवतरण नहीं हुआ तब तक तो इन्होंने आने का विचार नहीं किया लेकिन जब अब ये उनको सुना कि भगवान राम है उनका अवतार हुआ है वो सब आए हैं इस प्रकार से तो उनके आकर्षण के कारण से देखो राम के कारण से तो ये चले आए वैसे हमारे ऊपर कृपा करने के लिए कभी आने वाले ये थे नहीं तो कहते हैं कई कारण आगमन तुम्हारा कहो सुकर लाभो मारा और कहा कि जो आप बताओ जो आज्ञा दो मांग करें और लोग होते मांगने वाले होते तो महाराज दशरथ उनको सोना चांदी कपड़े हाथी घोड़े ये सब उनको दे देते लेकिन ये जानते थे कि ये सब ये लेने वाले नहीं है और न ये मानने के लिए आए हैं वस्तुए इनका कोई प्रयोजन कुछ और ही हो सकता है किसी और कारण से आए होंगे इसलिए उनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि क्या कारण है जिस कारण से आप आए हो व्यक्त तो नहीं आएंगे कोई न कोई प्रयोजन से आप आए होंगे तो इसलिए जो आज्ञा आप हमें देंगे उसे हम पूरा करेंगे हम अपनी तरफ से नहीं समझ सकते कि आपके लिए हम क्या करें आप जैसा जो चाहेंगे जो मांगेंगे उसकी उसकी व्यवस्था की जाएगी और कहो सो कह लाभ बारह बारह मन देर नहीं लगाएंगे जैसे आप कहेंगे फर्स्ट आप तो उसी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी और दे जाएगी तब ये जो महाराज दशरथ ने इस प्रकार से वचन दे दिया ये भी आगे के लिए एक बंधन हो गया उनको कहना चाहिए कि भगवान राम की प्रेरणा से इस प्रकार से मुझसे निकल गया या भविष्य में जैसा होने वाला था वैसे ही बोल जाता है व्यक्ति कर जाता है हमारे अपने सभ्य समाज में तो ये है कि एक बार वचन दे दो तो उसको बात पूरा करना चाहिए पूरा करते हैं न पूरा करो तो फिर वो निंदा होती है व्यक्ति की कहने की तुम तो बड़ी जल्दी जवान चल रही ये कर देंगे वो कर देंगे और जब करने की नौबत आई तो बात आज इच्छा देखने लगे तो नहीं करते बना तो यह है दुर्बल व्यक्तियों का लक्षण है और निंदनीय होता है इसलिए यहाँ पर इन्होंने प्रतिज्ञा कर दी कि कहो शुक्र लाभ बारह यहाँ से तो महाराज दशरथ की बात थी अब उसका उत्तर सुनो विश्वामित्र जी क्या कहते हैं कि असुर समूह सता ही कि भाई हम तो इसलिए आए हैं कि आश्रम में देखो असुर लोग बहुत चक्कर काटते रहते हैं साचर और वो हमको बहुत कष्ट देते हैं वहाँ आश्रम वासियों को बहुत तकलीफ देते हैं और मैं जाचने आई हूँ प्रभु तो ही इसलिए हम तुम्हारे यहाँ उन साक्षरों के से अपनी रक्षा करने के लिए तुम्हारे यहाँ मांगने आए हैं अब क्या मांगने आए नहीं बोलते कहते मांगने आए हैं हम भी निशाचरण की उनसे रक्षा करने के लिए और क्या मांगे कि अनिल समय से देव रघुनाथा बस मांगने के लिए आए हैं कि रघुनाथ को भगवान श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को ये दोनों भाइयों को आप हमें दे और इनके द्वारा क्या करेंगे निश्चर बद में हो सनाथा और ये निशाचरों का बंद कर देंगे और फिर हम सनाथ हो जाएंगे इसलिए हम मानने के लिए इनके मानने के लिए आए तो ये प्रयोजन दृष्टान जी ने इस प्रकार से बता दिया बताया नहीं इस प्रकार से बताया कि बिल्कुल निश्चित रूप से ये भी नहीं विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई आपके चार पुत्र हैं किसी एक पुत्र को दे दोगे तो हमारा काम चल जाएगा ऐसे करके नहीं सीधे सीधे से भगवान राम को ही मान और कहा कि राम के साथ लक्ष्मण की तो रहते ही नहीं इसलिए लक्ष्मण जी उनके साथ भी आएंगे तो बस इन्हीं दोनों को दे दो इस प्रकार से उन्हीं के लिए और कहते हैं देव रूप मन हर्षित मैंने जब जितनी देर में ये इसके माने बस विश्वामित्र जी ने इतनी देर में जब उनसे भगवान राम को लक्ष्मण को मांगा तब तक महाराज दशरथ के मुख की मुद्रा बदल गई उनका भाव बदल गया वो जैसे बड़े प्रसन्न थे और प्रसन्नता पूर्वक जैसी प्रतिज्ञा की थी उसमें जो है पर्दा का पटाक्षेप हो गया अब उसके मुख के ऊपर उनका दूसरी दृश्य दिखाई देने लगा विश्वानंद जी को लगा कि अब ये जो है वो आगे पीछा करेंगे देने को तैयार नहीं तो इसलिए कहा देव मन हर्षित तजुक मोह अज्ञान मोह <clears throat> मैंने पुत्र मोह को छोड़ो और इस अज्ञान को भी छोड़ो कि ये केवल मनुष्य मात्र है या दुर्बल है या बालक है ये परम परमात्मा है इस बात को ध्यान <clears throat> इस प्रकार से करो देव रूप मन हर्षित और प्रसन्न मन से आप इनको हमें मैं इनको अपने साथ ले जाऊँ तो उनका इसके माने महाराज दशरथ का मन हर्षित नहीं था तो सब विश्वास जी को कहने लगा कि इस प्रकार से दुखी होने की जरूरत नहीं है प्रसन्न मन से आप इनको हमें दे <clears throat> दूसरी बात ये कि इनके पुत्र प्रेम करके जो हो रहा है उसको आप छोड़ो <clears throat> ये भगवान स्मरण रखो ये भगवान है परम परमात्मा इसे भूलो नहीं <clears throat> ये ज्ञान बनाए रखो मोह और ज्ञान अज्ञान जो ये साथ साथ चलने वाले हैं तो जब मोह अज्ञान अज्ञान से मोह या मोह से अज्ञान ये दोनों एक ही बात मैंने सत्य बात को न जानना तो अज्ञान है और सत्य के स्थान पर किसी मिथ्या वस्तु को सत्य मान लेना स्वीकार कर लेना ये मोह हो गया सत्य आदृत हो गया ढक गया सब दिखाई नहीं देता उसके स्थान असत आ गया और उस असत को ही व्यक्ति ने ग्रहण कर लिया तो बस ये मोह में पड़ गया तो इस प्रकार से अज्ञान और मोह ये लगता है कि तुम्हें इसलिए तुम इस समय <clears throat> दुखित हो रहे हो उदास हो रहे हो अन्यथा और कोई कारण नहीं प्रसन्न मन से तुम आदमी को दे दो और इससे तुमको क्या क्या हो क्या धर्म से से प्रभु तुम कहूँ और इनको हूँ अति कल्याण अब देखो ये बातें छोड़ी जो है वो घुमाई फिराई बातें <clears throat> ये कहते हैं कि देखो धर्म सूर्य से प्रभु तुम कहूँ प्रभुमन राजा को प्रभु कह सकते हैं इसलिए कहा कि प्रभु राजन इनको तो धर्म और सुयश तो इनको आपको प्राप्त होगा तुमने धर्म क्या होगा कि तुमने जो प्रतिज्ञा की है कि हम जो मांगो दे देंगे तो वो तुम्हारी बात पूरी हो जाएगी तो तुम्हारा धर्म पूरा हो गया नहीं तो <clears throat> लोग ये कहेंगे कि महाराज दशरथ ने देने को तो कहा लेकिन जब विश्वामित्र ने मांगा भगवान राम को तो दे नहीं पाए तो यह अधर्म हो गया इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे धर्म की रक्षा होगी और यश भी होगा यश मैंने लोग बात कहेंगे जो धर्म परायण व्यक्ति होता है तो धर्म का फल यश होता ही है आप देखोगे धर्म के तीन फलों में से एक चीज भी है यश भी है जब तुम धर्म का पालन करोगे तो तुमको यश भी प्राप्त होगा समय कि महाराज दशरथ बड़े धर्मात्मा है अपने वचन का पूरा किया है बल्कि ये भी यश होगा कि यदि भगवान राम महाराज दशरथ को बड़े ही प्रिय थे तो भी उन्होंने अपने प्राणों के समान प्रिय वस्तु को भी विश्वामित्र को दे दी ऐसा महान राजा कौन होगा ऐसा महान कौन होगा ऐसे <clears throat> करके लोग बात प्रशंसा करेंगे इसकी धर्म सुजस प्रवृत्त होता हूँ और इन्हें तो, तो कल्याण और इनका भी बड़ा कल्याण होगा अब देखो इस कल्याण से क्या कल्याण होगा <clears throat> अब ये महाराज दशरथ को नहीं समझ पाती इनका क्या कल्याण होगा महाराज दशरथ को तो सबसे संकट इसी बात का है कि अभी बालक अभी छोटी कम आयु के हैं ये है और ये है इतने शक्तिशाली कहाँ इन शास्त्रों से युद्ध कर पाएंगे तो हम उनको ये लगता है कि इनका तो हित नहीं है इसमें मैंने भगवान राम लक्ष्मणों को देने में इन दोनों पुत्रों का इनके साथ जाने में हित नहीं दिखाई देता महाराज दशरथ को इसलिए विश्वामित्र कहते हैं नहीं इनका भी हित है अब इनका हित किस प्रकार के है ये आगे चल करके बसे चीजें समझाते हैं उनको तब उसमें जो है वो समझ लेना चाहिए आगे देखिए सुनिराजायति अप्रियवाणी सुनिराजायति अप्रियवाणी हृदयकं पंक्तु श्रुति कुमलानी हृदय चौथे मन पायो सुतचारी प्रवचन नहीं कहो विचारी प्रवचन नहीं कहो विचारी मांगहु भूमि धेनु धन को सा मांगहु भूमि धेनु धन सर्वस देहु आज सहरोसा सर्वस देहु आज सहरोसा दे प्राण ते प्रिय कछु नाही प्राण ते प्रिय कछु नाही सोमुन देव से कमाई सब सुख प्रिय मोहि प्राण की नाई सुख प्रिय मोहि प्राण की नाई राम देत नहीं बनई गुसाई राम देत नहीं बनई गुसाई कान निश्चरयति घोर कठोरा निश्चरयति घोर कठोरा महा सुंदर सुत परम किशोरा सुंदर सुत परम किशोरा सुनिल गिरा प्रेम रस सानी गिरा प्रेम रस सानी हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी सब बहु विधि समझावा वशिष्ठ बहु बुद्धि समझावा नृप संदेह नाश कहु पावा नाश कहु पावा अति आदर दो तन बुलाए आदर दो तन बुलाए हृदय बहु भांति सिखाए हृदय बहु भांति सिखाए मेरे प्राणनाथ सुख दो मेरे प्राणनाथ सुख दो तुम मुनि पिता यान नहीं को मुनि पिता नहीं को सौंपे भूप ऋषि सुत

अनुमान लगाया था कि महाराज दशरथ इस समय मोह में है <clears throat> इस समय इनके मन में प्रसन्नता नहीं है भगवान राम को देते इनको बन नहीं रहा है वो जो उन्होंने अनुमान लगाया था वो महाराज दशरथ के वचन से स्पष्ट हो गया दशरथ जी बोलते हैं कि सुन राजा की वाणी मन जब <clears throat> राजा ने महाराज दशरथ ने विश्वामित्र के वचन अप्रिय वचन सुने मैंने इसके माने ये विश्वामित्र ने कोई अप्रिय बात नहीं कही थी लेकिन महाराज दशरथ को ये बात अप्रिय थी हाँ? तो जिसको अप्रिय लगेगी वो तो यही कहेगी कि आपने बड़ी अप्रिय बात कही और उसने भले ही बड़ी प्रिय बात कही हो अब देखो दोनों तरफ से ये होता कहने वाला क्या कहता है सुनने वाला क्या सुनता है किस प्रकार से क्या होता है ये तब तो ये विश्वामित्र जी ने कोई अप्रिय बात कहने के लिए थोड़ी आए थे लेकिन महाराज दशरथ को ये बात अप्रिय लगी इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज दशरथ उनका ये हे विश्वामित्र जी आपने तो ये बड़ी ही खराब बात कह दी बड़ी अप्रिय बात कह दी हृदय कम कम दुख कमलानी तो और <clears throat> राजा का हृदय हृदय कांपने लगा और मुख की दुति माने उसमें प्रसन्नता मुख पर थी वो जाती रही और चेहरा का उदास हो गया कुमला गया चेहरा निराश हो गए बहुत दुखी हो गए महाराज बोले चौथे पद पाए सुखचारी महाराज दशरथ कहते हैं कि जी ये चारों पत्र जो है हमें वृद्धावस्था में प्राप्त हुए चौथे पद मैंने वृद्धावस्था में ये हमको चारों पुत्र प्राप्त हुए हैं अब देखो बात से कैसा लगता है कि इनके मन में महाराज दशरथ के मन में क्या भाव इस समय है इनको लगता है कि चार पुत्र हैं महाराज दशरथ उनके पिता हैं और वृद्धावस्था में ये चार पुत्र प्राप्त हुए हैं ऐसा उनका लग रहा है चौथे मन पाए सुचारी और विप्र वचन नहीं कहे विचारी और कहा कि ये विप्र तुमने ये बात विचार करके नहीं की लेकिन देखो विश्वामित्र विप्र हो गए प्रसिद्ध इसी प्रकार के हैं ये विप्र हो गए ये विश्वामित्र का एक प्रमाण इस बात का है और भी जगह पे शास्त्रों में है उपनिषदों में भी आता है कि जो व्यक्ति का वर्ण है वो वर्ण जनजात माना जाता है ऐसे नहीं है ये वर्णन जो व्यक्ति का है वो हो उसके संस्कारों के अनुसार सत्र के अनुसार है और अगर सत्र में उसकी प्रकृति में परिवर्तन आता है तो उसका वर्ण भी बदल जाता है <clears throat> ये वर्ण सदा एक सा नहीं रहता ये बदल सकता है ब्राह्मण भी क्षत्रिय और शूद्र हो सकता है जैसे द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर के द्रोणाचार्य जैसे क्षत्रिय कार्य करते करते क्षत्रित्व को प्राप्त हो गए <clears throat> ऐसे ही क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण को तपस्या इत्यादि करते हुए ज्ञान इत्यादि प्राप्त करते हुए धर्म की रक्षा हुए इस प्रकार का कार्य करने से प्रकृति की प्रकृति प्राप्त हो जाता है सप्तगुणी उसमें अधिक हो गया तो विप्रत्व आ गया ये राजपुत्र थे ही पिता इनके इनके पिता माँ इत्यादि राजा लोग रहे उन्हीं के पुत्र होकर के ये भी राजे राजा ही प्रसिद्ध है प्राणों में लेकिन फिर उन्होंने राज्य छोड़ करके जो तपस्या की और ब्रह्मर्षि हो गए तो इनको जो है विप्र मान दिया गया ब्राह्मण मान दिया गया कहीं कहने तुम्हारी कोई ब्राह्मण तुम्हें कोई कमी नहीं है तुम ब्राह्मण हो इस प्रकार का स्वीकार किया गया तो ये कहते हैं इनको महाराज दशरथ को बोलते हैं कि विप्र वचन नहीं कहे विचारी विप्र तुमने ये वचन विचार करके नहीं कहा विचार करके क्या विचार करके नहीं कहा कि तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए थी कि हम क्या कह रहे हैं हम पुत्रों को मांग रहे हैं और एक वृद्ध व्यक्ति को जिसको बुढ़ापे में पुत्र प्राप्त हुए वो बहुत प्रिय होते हैं उससे ऐसी वस्तु नहीं मांगनी चाहिए और चीजें मांग लेते ये मांगना ठीक नहीं ये तो मांगना तो उसके प्राणों से भी ज्यादा प्रिय वस्तु तुमने मांग ली इससे तो अच्छा था कि प्राण मांग लेते मैंने ये नहीं विचार किया तुमने तो ये कहते हैं मांगो भूम धेन धन कोसा तुम इसको चाहिए था इनमें से कोई वस्तु मांग लेते भूम मांग लेते तुम्हारा आसन छोटा पड़ रहा था तो आसपास की जमीन तुम्हें और दे देते भूख मिल जाती खेत मिल जाते बन मिल जाता तुम्हें ढेर दे देते तुम्हें भोजन और सामग्री खाने पीने की कमी में कईयों की कमी होती है तो एक हजार गहूँ तुमको बनवा देते खूब दूध तुमको मिलता खूब खाते पीते उनको धन दे देते संपत्ति दे देते जो कुछ और तुम्हें जरूरत होती है वो सब मिल जाती तुम्हें सर्वस दे आज सहरोसा जो कुछ मांगो और सब सब देने को तुम्हें तैयार सर्वस्व सर्वस्व देवाना तुम राज्य मांगो हमारा तो राज्य भी तुम्हें दे ऐसे करके हम तुमको दे सकते हैं सहजता के माने भले ही हमें वो वस्तुएं देने में कठिनाई हो लेकिन उस क्रोध को हम अपने सहन कर लेंगे शांति अपने मन में कर लेंगे जो कुछ मांगो वो हम सब तुमको दे देंगे देह प्राण से प्रिय कठिनाई तो ही सबको सब व्यक्तियों को अपने शरीर प्रिय होता है प्राण प्रिय होते हैं इनसे प्रिय कुछ नहीं होता है तो सौ मुन देह होने में से मांगी अगर शरीर मांगो तो वो भी हम तुमको दे दें प्राण मांगो तो वो भी तुमको दे दें और एक क्षण में दे दें तो उसमें सोचने की विचार है लेकिन भगवान राम को लक्ष्मण को देने में कहते मुश्किल पड़ रही है सब सुख प्रिय मही प्राण की नाई प्रिय तो हमें चारों पुत्र हैं प्राणों के समान प्रिय हैं लेकिन राम देश नहीं बने गुसाई लेकिन भगवान राम को तो देते ही नहीं बनता है और तुम्हें राम ही को मांग रहे हो तो राम और लक्ष्मण को दे दो तो ये हमसे नहीं बनता राम देश नहीं बने गुसाई अब देखो वो जो उनका मोह था अज्ञान था वो इस प्रकार से प्रकट हो जाता है कहा निश्चर्य घोर कठोरा कहते देखो उनके मन में ये भरा हुआ महाराज दशरथ के कि निशाचर कितने भयंकर होते और बड़े शक्तिशाली होते हैं बड़े क्रूर स्वभाव के होते हैं कहा तो उनका वो और कहा सुंदर सुत परम किशोरा और कहा ये किशोरायु के ये पुत्र और बिल्कुल जो है वो कुमार कोमल इन दोनों की तुलना कहा दोनों को तुम बढ़ाना चाहते हो एक सुकुमार कोमल किशोर बालकों को इन भयंकर इतने बड़े बड़े निशासनों से तुम लड़वाना चाहते हो ये तुम्हारी विचार की बात नहीं विचार ही बात तुमने कर दी सोचा विचारा नहीं ऐसी बात बोल दी पर हमसे कहोगे कि अपने बचन को पूरा करो और हम कैसे करें इस बात को हमारी समझ में नहीं आता इस प्रकार से महाराज दशरथ ने उनको <clears throat> एक प्रकार से न देने की बात एक बार फिर विचार कर लो कोई और बात मान लो और कुछ कर लो न राम को सही तुम तो भरत इत्यादि को ले जाओ सतोदन को ले जाओ किसी को ले जाओ ऐसे करके अपने विचारों को एक बार फिर से ध्यान दो और उसके बाद फिर निर्णय करके बताओ <clears throat> तो उसके लिए कुछ किया गया लेकिन भगवान राम को तो बिल्कुल मिलते ही <clears throat> अब कितना कह सकते महाराज दशरथ मान चुप हुए तो अब विश्वामित्र के ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ा सुन करके तो विश्वामित्र कहते हैं सुन करके प्रसन्न हुए हम्म। कहते हैं सुने तो गिरा प्रेम रसानी हृदय है समाना ज्ञानी वैसे तो कोई और दूसरा हो देते तो नाराज होता ये इतनी ही बात क्या देखो तुम आया काल मटोल कर रहे हो तुमने पहले कहा था देने के लिए हम नहीं दे रहे हो और नाराज भी होने लगे हम्म। लेकिन यहाँ विश्वामित्र जो है नाराज नहीं होते बल्कि उनको प्रसन्नता किस बात की प्रसन्नता होती है कि देखो भगवान राम ने इनका कितना प्रेम उस प्रेम को देख करके तो प्रसन्नता विश्वानंद को भी भगवान राम में प्रेम है परमात्मा में प्रेम है भगवान राम और प्रेम गुरु में प्रेम है <clears throat> तो उनको जब देखते हैं हमें जैसे भगवान राम में प्रेम है ऐसे महाराज दशरथ को भी इनमें प्रेम है तो ऐसे देख करके व्यक्ति सरगर्मी हो गए दोनों तो उनको अच्छा लगा जैसे हमें प्रेम है जैसे तो महाराज दशरथ को भी बहुत अच्छी बात है प्रसन्नता है इसलिए कहते हैं तो यह है कि शून्य के गिरा प्रेम रसानी ये प्रेम रसानी व्यासना बनता कि महाराज दशरथ ने जो कुछ कहा उसके पीछे भगवान राम के प्रति जो प्रेम है वो प्रकट हो रहा है झलक रहा है ये कहते हैं कि हमें भगवान राम को देखे नहीं बनता जैसे इसके मैंने समझ गए कि भगवान राम में इनका मतलब प्रेम है तो हृदय हर्ष माना मन ज्ञानी अब हृदय में हर्ष माना कि मैंने ऊपर से प्रसन्नता दिखाई दी ऐसा नहीं हुआ कि विश्वामित्र हंस दिए हम ऐसा नहीं किया अपने मन ही मन में प्रसन्न हुए कि महाराज का का अच्छा है महाराज जी भगवान ने ऐसा करेंगे तब तक जो हो वशिष्ठ जी ने तब अब ज्यादा विस्तार नहीं करते तुलसीदास जी और और जगह तो बड़े डायलॉग्स चलते हैं कहीं हनुमान नाटक इत्यादि जहाँ कथा है भगवान राम की तो उन्हें तो नाटकी ढंग से वर्णन किया इन्होंने ये बोला तो उन्होंने ये बोला उन्होंने ये कहा तो उन्होंने ये कहा जैसे महाराज इतनी बात किया महाराज दशरथ तो एक एक बात बोली और उसके बाद में फिर दूसरे को बोला बसु की भी बोले फिर दूसरा फिर बोले फिर उसके बाद में कहीं महाराज दशरथ ने फिर बोला फिर उसके बाद फिर बोला इस प्रकार से बात क्रम क्रम से आगे बढ़ती है लेकिन इसमें जहाँ महाकाव्य है इनमें काव्य जहाँ पर है उनमें इस प्रकार से नहीं करते कहीं कहीं इस प्रकार से भी देते हैं जैसे देखेंगे कि वहाँ हनुमान जी और रावण का संवाद होता है जहाँ अंगद और रावण का संवाद होता है और जहाँ परशुराम का लक्ष्मण का संवाद होता है वहाँ वो नाटकीय है वार्तालाप का लेकिन हर जगह इस प्रकार से नहीं तब यहाँ एक बार जिसने भी महाराज दशरथ ने जो कुछ भी कहा था वो एक जगह एक स्थान पर कर दिया और उसके बाद वशिष्ठ जी आप उसके बाद उनको समझाते हैं तब वशिष्ठ जी की बात आ जाती तब तब वशिष्ठ बहुत समझावा अब इतनी बात कह करके यहाँ छोड़ दिया उसके बाद वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया अब यहाँ पर दूसरी बात की बहुत प्रकार से समझाने की बात नहीं लिखते क्योंकि अन्य स्थानों में हमारी कथाएं हैं तो कहीं परंपरा में कुछ समझाया गई बात वशिष्ठ जी ने कोई बात समझाई है देखते हैं बाल्मीकि रामायण में कोई दूसरी बात समझाई है अध्यात्म रामायण देखते हैं कोई दूसरी बात समझाई है तो डिफरेंट पॉइंट है तो वो सबको तुलसीदास जी लिखने लगे तो एक मत तो पकड़ लें दूसरा मत छूट जाए इसलिए सबको सम्मिलित करने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि बहुविध समझा मैंने मतलब सबकी बात उसमें आई सब इसमें उन्होंने जो जो कुछ कहा कि वशिष्ठ ने इस प्रकार से समझाया इतनी ही बात में आ गया तब वशिष्ठ बहुत समझाना उनको समझाया होगा वशिष्ठ जी ने ये कि महाराज दशरथ आप देखिए ये दिशा में जो है बड़े ही ज्ञानी है और एकालक जो है इनको मालूम है कि सब भगवान राम किसकी अवतार हुआ है उनका निशासनों को इनको मारना है उसी के लिए इस प्रकार की व्यवस्था आगे हो रही है भगवान ने विश्वामित्र जी को इन्होंने संकेत कर दिया कि एकदम अत कल्याण इसके मन इनका अत कल्याण क्या और समझ लेना देख लेना तुम बाद में आपको अभी नहीं सुन रहा है बाद में तुम देखना कि उनको जाने दो भगवान राम को लक्ष्मण को ले दो मैंने विवाह का होगा जनकपुरी जाएंगे विवाह होगा और फिर विवाह में आप भी जब जाओगे फिर देखो आपको कितना आनंद होगा वो सब बातें आपको अभी पता नहीं है इसलिए भविष्य की बात है तो आपको नहीं पता है इसके माने किसी को पता नहीं है अरे इसको बेटा नहीं तो सब मालूम है आगे क्या क्या होने वाला है इसीलिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं और आपको अज्ञान है इसके दुखी हो रहे अगर भूषा में तो किसी तरह ज्ञान होता तो ये तो पता कोई कारण नहीं होता आपको मालूम होता कि भविष्य में आगे क्या होने जा रहा है उसके कारण कारण दुखी नहीं होते भगवान <clears throat> ने आपको प्रसन्नता पूर्वक दे जी ने यह स्पष्ट तो नहीं किया तीन का आगे जाकर के वहाँ जरा खुल जाएंगे वहाँ दुबा भी वो अभी बताया नहीं इनको लेकिन इनको ये जरूर बता दिया इस प्रकार से कि आगे चल करके इनका जो कल्याण के लिए बात कह रहे हैं जरूर कोई ऐसी बात है जो आप अभी समझ नहीं रहे हो ये इनकी हित की बात होगी दूसरी बात ये कि भगवान राम ने अवतार लिया निशासनों का बंद करने के लिए और आप इनको रोकने लगो हाँ? कि इनको न ले जाओ उसको निशासनों को न मारे तो फिर उनका अवतार का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता उसके उनको तो जाना है प्रशासनों को मारने में फिर ये भी संदेह दूर किया कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये बड़े किशोर हैं सुकुमार हैं और ये निशासनों को कैसे मारेंगे इसके मैंने आपको इनकी शक्तिता भी बताने चला ये बड़े शक्तिशाली है निशाचर के सामने कुछ नहीं ये ये सबका निशाचरों का सबका मतलब और जब निशाचर मारे जाएंगे तब फिर भगवान राम के लक्ष्मण जी की प्रशंसा तो प्रशंसा तो होगी ही होगी अब देश विदेश में सब जगह अन्य राजाओं में भी कि भगवान राम ने निशाचरों को मार करके बहुत लोग कल्याण कार्य किया बड़े शक्तिशाली हैं जो निशाचर मारे नहीं मर रहे थे उनसे भी छुटकारा नहीं हो रहा था उनसे छुटकारा करा दिया भगवान राम ने लेकिन उसके बाद में आपकी भी बड़ी प्रशंसा होगी कि इनके पिता जो है महाराज दशरथ है ये कौन है भगवान राम जिन्होंने शासनों को मारा कहा महाराज दशरथ के तो आप जब इस प्रकार को सुनेंगे तो आपकी भी बड़ी प्रीति होगी आपका यश भी होगा इस प्रकार लोग बात यही कहेंगे कि महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों को भेज करके निशाचरण तो का बंद कराया तो आपको इसका पुण्य प्राप्त भी होगा आपको यश प्राप्त भी होगा तो जो ये वैशिष्ट विश्वामित्र जी कह रहे हैं संक्षेप में ये बात आप इसके तात्पर्य को समझे नहीं हो तो वशिष्ठ जी ने उसकी सबकी व्याख्या की विस्तार का समझा दिया तो देखो ये सब होने वाला है ये सब इसमें कोई महाराज दशरथ को पुत्र अभी लग रहे थे किशोर थे किशोर तो मैंने अभी दस बारह साल के जैसे हो ऐसे ही महाराज दशरथ को लग रहे थे पिता को अपना पुत्र छोटा ही लगता है हालांकि सोलह वर्ष की आयु भगवान राम की हो गई और युवा अवस्था में प्रवेश हो गया लेकिन उनको ये लगता कि अभी किशोर है अभी युवा युवा कुछ नहीं दस बारह साल की कमजोर बालक लगता है तो इसलिए ये एक स्वभाव प्रकृति का है वो जो है मानवीय स्वभाव मनोविज्ञान वो भी उसमें प्रकट होता रहता है जैसे महाराज ने कह देते हैं कि कहा ये किशोर स्वभाव के कहा सुंदर सुंदर परम किशोरा परम किशोरा मैंने बहुत छोटे किशोर आयु मान लो सोलह साल तक पंद्रह साल तक सोलह साल तक किशोर आयु है लेकिन ये परम किशोर है अभी तो दसों बारह साल ये भाव के साथ में तो इसलिए पिता का स्वभाव होता है ऐसी करके लगा करता है कमाल मित्र भी लगता तो वो ऐसे करके महाराज दशरथ को फिर दशरथ जी ने सब समझा दिया कि देखो इसको ले जाने में तुम्हारा सब प्रकार से तो युद्ध है इनका भी सब प्रकार से तो युद्ध है तो इनको ले जाने और बीच में ये भी बोल दिया कि महाराज दशरथ आपको पता नहीं है विस्तार में तो कितने क्रोधी है हम ही जानते हैं इसलिए अच्छा है कि तुम्हें को दे दो जिन्होंने विचार करने वशिष्ठ जी के तमाम पुत्रों की हत्या कर हाँ? ऐसे विचार कहा कि इसे सावधान रखो कह दिया है हमको जो जो मांगो हम देंगे तब अब देवी जो इनको भगवान राम लक्ष्मण को जाने तो न तो संदेह ना से कह पावा तब न तो संदेह महाराज दशरथ का संदेह अब दूर संदेह शब्द को तो जोड़ लो उसके साथ मोह अज्ञान और संदेह संशय ये सब साथ चलते हैं संदेह संशय शंका अज्ञान मोह हम्म? तो संदेह नाश कर पाओ ना अज्ञान मिटा उनका मोह मिटा और उनको भाव आ गया कि मेरे हमारे पुत्र ही नहीं है लेकिन तो परम परमात्मा है विश्वव्यापी है ये तो सबके हैं तो ये तुम्हारे तो है ऐसा भाव करके उन्होंने उनको अपने मन में ला करके दे दिया कि सबका लोक कल्याण का कार्य इनके द्वारा अगर होता है तो बहुत अच्छा है ऐसे समझ कर इनको दे दिया और अति आदर दो तने बुलाए फिर महाराज दशरथ ने इन दोनों पुत्रों को टिकट बुलाया वहाँ पुत्र के कारण चारों का प्रणाम किया था विश्वामित्र जी को लेकिन राम को लक्ष्मण जी को महाराज दशरथ ने कहा कि जरा यहाँ तो वो यहाँ थे वहाँ से अपने पास बुलाए निकल बुलाए मैंने दूर थे पास और हृदय लाल दो भाग सिखाए जब अपने पास आए तो उन दोनों को अपने हृदय से लगा दिया और फिर उनको तो कुछ शिक्षा दी उनको और शिक्षा में भी संक्षेप में थोड़ा सा बता दिया उनको कहा कि मेरे प्राण माँ के शुद्ध जो कहा कि तुम दोनों जो हमारे प्राणों के समान प्रिय हो बल्कि प्राणों के मात हो माना प्राणों के रक्षक तुम्हें हो तुम्हारे लिए कारण से हमारे प्राण है इस प्रकार से अपनी प्रियता को प्रदर्शित की और प्रकार तो तुम तुम मुनि पिता नहीं को तो अब तुम जाओ उनके साथ में अब तुम्हारे पिता यही अब यही समझना तुम अपने हृदय में कि इन मुनि विश्वामित्र के अतिरिक्त और तुम्हारा कोई पिता नहीं मैंने जब हमारे पिता भाव को भूल जाना और विश्वामित्र कोई पिता सुना जैसे तो हमारे साथ व्यवहार करते रहे हमारी आज्ञा का पालन करते रहे हमसे आज्ञा लेकर के सब कार्य करते रहे वैसे अब हमारे स्थान पर विश्वास बस तो ये शिक्षा भगवान राम ने स्वीकार कर ली और ऐसे लागू किया विश्वामित्र जी के साथ ऐसे रहे जैसे पिता के साथ रहते हैं जैसे गुरु के साथ रहते हैं इस भाव से गुरु के साथ चौथे धूम्र से सुख बहुगुण इस प्रकार से कह करके उन दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया और विश्वामित्र जी उन दोनों पुत्रों को अपने साथ बुला लिया तो फिर वहाँ से महाराज दशरथ यहाँ से भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पास जा चले उनके पास पहुँचे महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया जब जाने लगे तब आशीर्वाद दिया भगवान राम ने क्या किया कि वहाँ से भगवान महाराज दशरथ को प्रणाम किया और उसके बाद चले गए माता जी के पास कौशल्या माँ के पास जननी भवन गए प्रभु प्रभु भगवान राम माता के पास गए और कौशल्या माँ से जा करके वहाँ से भी उनको बताया कि आज ऐसा निर्णय हुआ है कि विश्वामित्र जी आए हैं उन्हीं के साथ में जाने के लिए आदेश हुआ महाराज दशरथ ने बोला कि उनके पास उनके साथ जाए और उनके आश्रम में उनकी रक्षा का कार्य भी करें उसके लिए हम जा रहे हैं तो उन्होंने कौशल्या माँ ने भी इसी करके भी बात ठीक है जाओ उनको तो फिर उनको माँ को भी प्रणाम करके फिर भगवान राम चले चले नाव पर शीश जहाँ कलिनाय बख्शी उनके है माता के लिए उनके विचार ने में प्रणाम किया और <coughs> उनका आशीर्वाद प्राप्त करके चलते हैं तो देखो ये विधान व्यवहार का तरीका क्या है ये आंचलिक समझ बताता रहता है परमात्मा भी बताता है और व्यवहार भी बताता है कि परमात्मा हमें किस प्रकार से परमात्मा का ज्ञान किस प्रकार से उसका चिंतन ध्यान कैसा उसमें प्रेम हो कैसा उसका ज्ञान हो परमात्मा क्या है उसके लक्षण से गुणधर्म क्या है वो तो संभालना मालूम होनी चाहिए और उसी परमात्मा में प्रीति भी होनी चाहिए लेकिन व्यवहार कैसा होना चाहिए ये भी पता चलेगा तो इस प्रकार से महाराज भगवान राम ने जिस प्रकार से महाराज दशरथ की आज्ञा मानी और उस प्रकार चले जाते तो भगवान राम महाराज दशरथ से ऐसे ही बोलते कहते कि हमें उनके साथ जाने में डर लगता है बाबा जी पता तो नहीं कहा ले चले जाएंगे उनके साथ ऐसे नहीं बोलते हाँ? वो जहाँ अब आप कहोगे तो भगवान अधिकारी बोलेंगे आजकल लड़के हम जाने बहुत इस प्रकार से बोले लेकिन ये है कि हर सीखने की बात ये कि ये पिता की आज्ञा है तो पुत्र को उसे साथ स्वीकार करना चाहिए उसे यही समझना चाहिए इसमें भलाई है सब प्रकार की अपनी भलाई है और सबकी भलाई इसी में है ऐसे मान करके आज्ञा का पालन इस भाव से करना चाहिए इस प्रकार से भगवान राम ने उनकी आज्ञा को शुरू धारित किया और विश्वामित्री जी के साथ में जाने को तैयार हो गए बस अब यहाँ से भगवान राम के जो साधारण रूप में दो रूप एक तो उनका माधुरी रूप दूसरा उनका ऐश्वर्य रूप तो माधुरी रूप की कथा बहुत कुछ समाप्त होगी अब आगे माधुरी गौर हो जाएगा और ऐश्वर्य प्रधान हो जाएगा अब ऐश्वर्य जब भगवान राम का प्रधान हो जाएगा तो ऐश्वर्य वाले गुण आ गए हमें तो ऐश्वर्य वाले गुण तुलसीदास तो जी झटपट बोल दिए बस यहाँ से जैसे पता बदल गया हो भगवान राम का रूप बदल गया पुरुष के दो भी आप दोनों राम लक्ष्मण के क्या है पुरुष सिंह हो एकदम यही से कहा और दोनों ही बड़े जी बड़े ऐसा और चले हरण और भगवान राम लक्ष्मण बड़े प्रसन्न है प्रसन्नता इस बात की कि देखो हम राजकुमार हैं और हमारा कार्य कि प्रजा की रक्षा करो मुनियों की रक्षा करो तो हमको इस प्रकार से ये कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ उस बात की प्रसन्नता लौकिक दृष्टि से इस प्रकार से वैसे तो भगवान नहीं है उनको भगवान ने उपाधि इसलिए लिया है कि वह <clears throat> मुनि है कि मुनियों के भय को दूर करेंगे धर्म की रक्षा करेंगे इसीलिए अवतार भी लिया है लेकिन संसारी दृष्टि से भी देखें तो भी व्यक्ति को अपना कर्तव्य कर्म करते हुए प्रसन्नता होनी चाहिए राजा के पुत्र होने के नाते अगर छात्रों में जाकर के बंद करना पड़ता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कहाँ संकट में हमें भेजा दिया जा रहा है बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये कार्य करने को हमको मिला यह हमारे लिए गौरव की बात है ये इस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होगी तो हमें भी प्रसन्नता है लोग को भी प्रसन्नता है व्यक्ति भी होगी इस भाव से व्यक्ति को सहस अपना कार्य करना चाहिए इसलिए चलते भगवान में अपना कार्य करने के लिए हर्ष चले मुनि भय हरण और कृपा सिंधु विश्व तारा करण और भगवान है विश्वामित्र जी की करने के लिए जा रहे हैं उनके धैर्यवान बुद्धि के धीर बुद्धि के हैं वो और अखिल विश्व और याद रखो वो परमात्मा अखिल विश्व के कारण सारा जगत जिनसे उत्पन्न हुआ वो सच्चिदानंद स्वरूप अनावरण स्वरूप परमात्मा वही भगवान का है इसलिए वो अखिल विश्व कारण है और कर्म के माने क्या है सारे जगत की उत्पत्ति करने वाले भी वही है उन्हीं से सारे जगत की उत्पत्ति हुई सारे जगत के माता पिता है सारे शिष्य को उनके ऊपर आश्रित है ऐसे परम परमात्मा जो है वो वही अवतार दे करके ये लीला कर रहे हैं तो लीला करते हुए वो लीला किसके भक्तों की प्रतिपा करने के लिए मुनियों की प्रतिपा करने के लिए सज्जनों की कृपा करने के लिए भगवान ने अवतार दिया है और भी कराने का हुआ कि अब शासन शुरू तो करने के लिए जा रहे हैं तो इसमें कोई घबराने की बात उनको नहीं बड़े धैर्य पूर्वक विश्वामित्री जी के साथ में चले जा रहे हैं अब आगे देखेंगे कि रास्ते में किस प्रकार से चल जाते हैं और आगे क्या घटना करती है वो हैं